उनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफ्र अपना रखा था और जिन्होंने आखरत का सामना करने को झुटलाया था और जिनको हमने दुनियावी जिंदगी में खूब ऐश दे रखा था उन्होंने एक दूसरे से कहा इस शख्स की हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये ही जैसा एक इंसान है जो चीज तुम खाते हो ये भी खाता है और जो तुम पीते हो ये भी पीता है